आप सबका किरणपुरी तीर्थ क्षेत्र में हार्दिक स्वागत है हमारा ही दर्शन को भी हमें यहाँ इकट्ठे होते हैं यही सबसे बड़ा सत्संग है मैं इतना ही कहने नहीं जा रहा हूं कि आप सिर्फ बातें करते रहेंगे मगर एक दूसरे के व्यवहार को देखना ज्ञानी सीखते हैं उससे ज्यादा देख कर हम ज्यादा समझते हैं और सीखना नहीं पड़ता वो अपने आप आ जाता है यहां सभी आपका पुत्रों भी विराजमान है उन लोगों ने भी दादा भगवान की सेवा में रहकर दादा जी के सानिध्य में रहकर उनकी जो ज्ञान दशा है जो अनुभव दशा है जो विद्राग का है उनके दर्शन किए हुए हैं और उनका अनुभव भी लेना है शब्द की सीमा होती है हम सब जानते हैं मगर दृष्टि से जो बातें होती है उसमें शब्दों का कोई अवकाश नहीं रहता है और हम भी यह शरीर के लिए भी बहुत उत्सुक है क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा मिलना और हिंदी में बातें होना ये भी हमारे लिए नया अनुभव है हम गुजराती भाषी हैं हो सकता है कभी कभी हिंदी में उसका जो प्रॉपर वर्ड्स है वो हमारे लक्ष्य न निकले मगर फिर भी हर एक शब्द के पीछे कहने का एक तात्पर्य एक आशय होता है वाणी तो कोई भी महापुरुष की हो सकती है वो वाणी से ज्यादा हमने जो दृष्टि पाई है उस दृष्टि से कोई भी संयोग को जब हम समझेंगे जरूर हमने ज्ञानी पुरुष की कृपा से जो पाया है उसका हमारे भीतर हम अनुभव कर आप सबके लिए मैं इतना ही कहता हूं शिविर का जो कार्यक्रम किया गया है और स्वामी नवीनारायण जी भी हमें बताएंगे हम सभी महात्मा हैं हमसे भी बड़े हैं हमसे भी ज़्यादा आप लोगों का व्यवहार में से अपने परिवार से रिश्तेदारों से भी बहुत से अनुभव आप लोगों को भी हुआ होगा और वो अनुभव भी हम लोग सुनना चाहते हैं ये ऐसा एक समझ का लेन देन है जिससे हमारे सबकी जो दर्शन शक्ति है दर्शन शक्ति का मतलब क्या है ज्ञानी पुरुष की बात को समझने की कोशिश करना और वो हो सकता है तो मैं इतना ही कहकर अब मैं सभी को रखता हूँ मैं इतना ही कहूँगा न भोगो કરવાનું ભગત સાહેબ મારું ધ્યાન નહોતું ખાલી એનાઉન્સ કરવાનું ને जय सच्चिदानंद नोटिस बोर्ड पे भी लिखा है 26 तारीख तक का प्रोग्राम नाटा परिवार की ओर से और 26 दोपहर से तीन बजे से कीर्तन भक्ति की शुरुआत करेंगे वो कीर्तन भक्ति के निमंत्रक भी जोधपुर से महावीर जी मधु जी ये सारे परिवार ने हिंदी भाषी और सारे महात्मा सभी महात्मा कीर्तन दिन आएंगे गुजराती सब महात्मा आएंगे आज से अभी हमारा सत्संग है ग्यारह से बारह करण दादाजी का उसके बाद साढ़े तीन बजे से पौने पाँच बजे सभी को अपनी उम्र के हिसाब से सत्संग की शुरुआत करेंगे हम क्लासेस में और वापस पाँच से छः दादाजी सत्संग में पधारने वाले हैं तो वापस पौने पाँच बजे साढ़े तीन से पौने पाँच बजे तक सत्संग खत्म करके पाँच बजे सभी को यहाँ इकट्ठा होना है दादाजी का सत्संग का लाभ लेने के लिए आज से शनिचर तक नाटा परिवार की तरफ से ये पूरा शिविर चल रहा है और शनिवार दोपहर तीन बजे से रविवार दोपहर तीन बजे तक कीर्तन भक्ति रहेगी जय सचिदानंद ના ના દાદાજી આવે છે અગિયારથી બાર શું હા તો પગ લેવું જ નહીં Велика वजह से हम बेनकाम हो गए हैं जैसे आपका पुत्र साहब हम्म, हम्म। आपका पुत्र की कृपा है यार आपकी कृपा उनके ऊपर है बैठो अपना आसन ले लो सर बैठ जाओ तो अपना अपना आसन ले लो अपना अपना आसन ले लो आलोक जाओ बेटा नीचे बैठो बाद में बाद में खूब आशीर्वाद रहो हाँ राखो बिहारी ચૌદસ પૂનમ વાળું કયું પદ છે કંઈ છે ખરું કઈ રાત હે એ છે એ છે ખરું શું છે લાઈન આડી ચૌદસ ને તેમાં વળી એક બહુ સરસ કવિરાતનું પદ છે ગુજરાતી છે દાદા એ ગુજરાતી છે પણ નહીં તો जी સમજ જાવેગી हिंदी भाषा की एक पोती एक गा- भजन प्रस्तुत करना चाहती है स्वागत में અચ્છા केपी गुप्ता की पोती कौन है गुप्ता ए- साहब की पोती केपी गुप्ता માઇકમાં લો जो प्रस्तुत करना चाहती है एक भजन આ નિમેશ केपी गुप्ता जी की पोती નિમેશભાઈ આ મળ્યા છે આપણને મળ્યા હતા ને? हाँ શું આપણે એમનો મળ્યા મારા સાહેબનું હા મળ્યા બસ આજ મહાવીર ભગવાને આજ્ઞા આ આપી છે શું કહ્યું મયુર ભગવાને આજ્ઞા આપી છે જો આપણે સંયમદમ સ્વીકાર્યો છે તો આપણે સંયમદમ કેવો હોય કે પરમ વિનયથી હોય આખો પરમ વિનય પ્રભુ વિતરાગ પ્રભુ માટે હોય છે હવે આ કાળમાં પંચમ કાળમાં એ ચતુર્થ કાળ રહ્યો નહીં છતાં એ લિંક રહી વીર શાસનમાં દાદા ભગવાન મારફતે અને એ આખો એમનો પ્રકાશ ખુલ્લો થયો હમ એ આજે એ આપણા પ્રત્યક્ષ મહાવીર ભગવાન છે સમજાયું પરંતુ એ દાદા ભગવાનની એમના પ્રાપ્ત ભવમાં અત્યારના એમ પટેલ રૂપી એ ચૌદસ પૂનમ સ્વરૂપે રહ્યા હતા એના લીધે બધાને પૂર્ણિમાનો એટલે કેવર્ગનો લાભ મળ્યો કેવર્ગનો કેવર જાણકારી અને કેવર દેખવાવાળું સમજાયું ને બધું જ આ લાભ મળ્યો તે આ મળ્યા હતા આપણને ये शिव मुनि के सिद्ध मुनि पिछले साल आए थे ज्ञान में। सिद्ध मुनि शिव मुनि से आता शिव मुनि अभी कहाँ भी आ रहे पंजाब से पंजाब से आ पंजाब से आए अपना रायचंद भाई जानते हैं हाँ जानते हैं जानते अच्छा आपसे ज्ञान विधि लिए हुए है हाँ वो अपने अहमदाबाद में थी हैं। नहीं यहाँ पे ये पर यहाँ यहाँ थी मन मालूम सत्ताईस मार्च को हाँ सर सत्ताईस मार्च को बड़ा अच्छा है एक विधि मैंने ली है मतलब जो देने वाले नहीं हैं उनसे ही हमें ये स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है आत्मज्ञान का और वो केवल का बीज बीजारोपण नहीं होता वहाँ तक वो परिणाम स्वरूप में आता नहीं अभी आपका ये संयम पर्याय शिव मुनि आचार्य साहेब पूरे समझते हैं लेकिन वो तो आचार्य है इतने बड़े संघ के हैं इतने बड़े साधु संप्रदाय का कितना बड़ा है हुँ? इस ढंग से लेकिन अंदर से वो अलग ढंग से रहते हैं साहब जाके मिलते हैं सबको आप तो पुत्र भी जाते रहते हैं समझे आपको मालूम होगा हाँ, चलो बस बैठिए हाँ आपका अलग स्थान ले लीजिए हाँ, हाँ थोड़ा आगे रखना थोड़ा તમારા લોકોનો સ્પર્શ ના થાય થોડું આગળ રખાવજો આગળ રખાવો થોડું બસ એ બસ બસ બસ બસ સરદારજી भाई कहाँ से आए आप जोधपुर से दादाजी पंजाब वो आ रोपर रोपर रोपर पर रायचंद जी के साथ आए पंजाब की भूमि वो वितराको की भूमि है जिनके हाथ में कोई हथियार न था समझे रायचंद जी अच्छा तो आपको पंजाब का संदेशा ले जाओ आप आपकी गुरुमुखी में काम करेंगे रायचंद के रायचंद जी के साथ नहीं करेंगे कोई मारने वाला नहीं कोई हैरान नहीं करेगा आपको उसकी आपको गारंटी देते हैं जाओ जाओ जाओ, हम्म आप तो पुत्र को भी ले जाओ इसको लेकिन उसको वो बना ना पकड़ी पकड़ी बना दे कूलर कहाँ है अरे क्या कूलर साहब के वहाँ वहीं आते जाते रहते कहाँ है अरे आ गए आ गए आ गए आपकी गुरु जी सच्ची है? विजन में विजन में विजन में है हुँ? हम्म? और जो विजन में है वही व्यवहार में आता है अन्यथा व्यवहार में नहीं आएगा मेरे जीवन में प्राप्त जीवन में अभी जो जी रहे हैं वहाँ अगर हमारी शरीर में ना गई <laughs> आपको आपको पंजाब की है <laughs> नहीं वो तो बिहार की है <laughs> बिहार की अब बिहार की ना राजस्थान की ब्यावर में जन्म हुआ है अरे खुल्लर जी बड़ा आनंद हो गया बड़ा आनंद हुआ अभी ये गुप्ता साहब की पोती के पी गुप्ता जी की पोती कहाँ है आप यहाँ आ जाओ उनकी इच्छा है कि भजन प्रार्थना बोलना चाहती है हम्म? एसपी शर्मा डॉक्टर अलवर एक भजन प्रस्तुत करना चाहती है हाँ तो आ जाओ शर्मा साहब भी करना चाहते कहाँ गए शर्मा जी पीछे आ जाना आप उनका पहला होने दीजिए पीछे आप आ जाइए अब बैठ जाए नीचे वहाँ हाँ, बैठ जाए उसके ऊपर बैठ उसके ऊपर बैठ ऐसा बीच में बीच में बैठ जा बच्ची यहाँ बीच में बैठ आजा आजा बरबर हम्म। चलो चलो अभी आंखों बंद करके अब मजा से बोल हाँ जोर से तुम्हें हो माता पिता आजा स्कूल में क्या पढ़ती है कहाँ मैं आदिनाथ पब्लिक हाँ आदिनाथ पब्लिक स्कूल कौन सा ग्रेड स्कीम आर्ट हाँ स्कीम आर्ट सेवन्थ सेवन्थ अब एट्थ में आ जाऊँगा सेवन सरी बहन सेवन्थ में है बच्ची आपके स्कूल में वो सरी बहन की स्कूल मालूम है सरी बहन है पहचानती है नहीं मुंबई की स्कूल वाली है हाँ बोलो चलो जाओ जाओ कहीं जाओ अच्छे शर्मा जी शर्मा जी आप यहाँ खड़ा है कि बोलिए तो बोलने का काढ़ी पर अजय सबके सामने आइए मेरा आशीर्वाद है दादाजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम सभी आदरणीय हम्म। आपके पुत्रों की चरण साष्टांग पर और सभी बड़ी महात्मा सभी के चरणों में हृदय से चिंतन अभी सभी महात्मा के हृदय से चिंतन तो जैसे हम सब जानते हैं दादाजी हिंदुओं के ही राम कृष्ण हैं और मुसलमानों के अल्लाह हैं और ईसाइयों के यीशु मसीह हैं और उसके भावना को आगे बढ़ाते हुए मैंने दो लाइन दादा के चरण में समर्पित करा आप सब साथ देंगे हमारे में ये भाव आए सिर्फ दो आंसू नहीं है हर टक टक टक आंसू पटक आंसू से गिर रहे थे और मैं ही कह रहा था हर रे दे देना अक्रम विज्ञान हिंदी में पुष्पा आप ही दे दो पुष्पावन अक्रम विज्ञान में लेना हुँ? हम्म? ये थोड़ा प्रश्न ले लें अभी ये पुष्पा बेन किसने भेजा है आपने करमचंद जी अपने बेंगलोर वाले अच्छा पुष्पा जी उन्होंने प्रगट अनुपुक्ष में से कोई ज्ञान सूत्र पूछे हैं लेकिन उस पर उसके ऊपर से उन्हें पढ़ा तो उसे कुछ प्रश्न हाँ, उपस्थित हो गए वो प्रश्न पूछे हैं हम्म? और तीन चार उन्नीस वो पुस्तक का नंबर है श्रेणी का नंबर है हुँ? हम्म, तीन में से चार में से हाँ? तेईस नंबर का अनुभव तेईस में से है तेईस वाला जो अनुभव सूत्र की पुस्तिका है उसमें से सब पूछे हैं पहला क्वेश्चन है तीसरा सूत्र पर से नहीं समझ गए को कोटि कोटि नमस्कार अच्छा जो लेन देन के अधीन न हो बोलो उसे ही भाव कहते हैं भाव तटस्थ रूप से होता है उसमें द्रव्य सम्मिलित नहीं होता उसमें उसमें द्रव्य सम्मिलित नहीं होता तो उसमें क्या क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है कि नहीं सम्मिलित है कि नहीं ऐसा पुष्पाबेन एक आपका यहाँ से माइक ले लो एक माइक दो हाँ बोलो आप वहाँ से बोलो જ્યાં बैठे हाँ जय सच्चिदान बोलो जोर से हाँ वो बराबर है और लेनदेन के हिसाब से आप प्रश्न करते हैं और सूत्र में ऐसा है कि उनमें द्रव्य भाव में द्रव्य सम्मिलित नहीं होता ऐसा लेकिन ये सूत्र अपेक्षा से है महात्माओं की अपेक्षा से जिन महात्माओं ने आत्मज्ञान पाया है स्वरूप ज्ञान पाया है वेद ज्ञान पाया है उनके लिए है ये खाली सूत्र अनुभव सूत्र है ना तो महात्माओं को जो आज्ञादम से अपना जीवन जी जी रहे हैं उसमें ऐसा आहिस्ते आहिस्ते अनुभव होता जाता है कि जो पुष्पाबेन है वो भाव मिश्रित द्रव्य है क्या बताया और शुद्धात्मा है वो शुद्ध स्वरूप से भाव स्वरूप है भाव स्वरूप है मैना आत्मा स्वरूप समझे न इसलिए शुद्ध आत्मा बताया अपने तो हम निर्णय निश्चय से केवल शुद्ध आत्मा है समझे तो निर्णय निश्चय से हम शुद्धात्मा हैं वो हमेरा स्वभाव भाव है क्या बताया तो स्वभाव बिना प्राप्त हुए स्वभाव भाव किसी को होता नहीं है लेकिन हम ये व्यवहार में है पुष्पा बहन है उसका पूरा व्यवहार पड़ा है उसमें हम किस ढंग से रहे कि अभी पुष्पा बहन की नज़रिया से वो जो देखती रहती है सब कुछ सभी जगह वो पुष्पाबेन की नज़रिया है शुद्धात्मा की नहीं है लेकिन हम शुद्धात्मा है वो आपको स्वाद में आ गया अनुभव में आ गए आपकी जानकारी हुई आपकी समानता हो गई और वो समानता से रहते हैं लेकिन पुष्पाबेन का व्यवहार जो आगे का कारण स्वरूप में भाव मिश्रित द्रव्य हो गया था उससे पुष्पाबेन जन्म पाई और उसका व्यवहार तो निकलना ही है समझे न तो उसमें निश्चय तो निश्चय ही रहा लेकिन वो भाव निश्चय द्रव्य में जो हम भाव है ऐसा मानते थे गलत मान्यता थी वो उसमें ऐसे परमाणु हो गए समझ गए और वो परमाणु होने के लिए वो सारा उसका हिसाब हम खुद अब हमसे बंधे गए थे वो निकलने के लिए जन्म पाते ही है तो जन्म जो मिलता है द्रव्य मिलता है लेकिन शरीर में अंदर से और इंद्रियों से जी जाता है शरीर वो भाव मिश्रित द्रव्य वाला है भाव मिश्रित द्रव्य वाला महीना अंतकरण से मन से बुद्धि से क्या बताया और चित्त अहंकार अहंकार अंतकरण बोलते हैं ना वो भाव मिश्रित द्रव्य है इसीलिए उसको द्रव्य कर्म बताया क्या हाँ और बाहर वाला शरीर का भाग को नो कर्म बताया वो तो बाहर सबके साथ पहनकर रहना ही पड़ेगा आपको लेकिन ये आज्ञा धर्म के अनुसार दो दृष्टि से आप सब में रहो और जहाँ न रह सके वहाँ प्रतिक्रमण करके सुधार कर लो खुद को समझे कि नहीं ख्याल है समझो हमें लगते हैं वो पेंसिल से लिखते हैं तो ऐसा और पीछे लगा कि नहीं गलत लिखा गया तो हम अगर रबर है तो निकाल देते हैं तो प्रतिकमण रबर सरखा काम करता है प्रतिकमण क्यों कि जो पुष्पाबेन भाव मिश्रित द्रव्य वाला है बाहर रोड कम से है उसमें एक ऐसी गलती हो गई पुष्पाबेन के नज़रिया से कि वो मैं हूँ वहाँ गलती हो गई वो भाव मिश्रित द्रव्य के कारण हुआ हाँ वो तो सभी में होने वाला है उसको गल, गलतियाँ बोलते हैं अपने अंदर के जीवन की वो गलतियाँ हमें मालूम पड़ती जाती हैं वैसी वैसी वो गलती को हम प्रतिक्रमण वापस आ जाते हैं कि भाई पुष्पा बहन की नज़रिया पुष्पा बहन की है वो मेरी नहीं है मैं तो शुद्धात्मा हूँ मैं शुद्धात्मा के नज़रिया से सब पुष्पा बहन का सभी का मन का विचार सब खुद देख देख रही हूँ और बाहर के शरीर से जो जिया जाता है उसमें उस पुष्पा बहन का जीवन और मैं शुद्धात्मा हूँ समझे कि नहीं रेलवे की पटरी दो ऐसी होती ना साथ में ऐसी लेकिन हमारा भाव मिश्रित द्रव्य के कारण ये पटरी ऐसी नहीं रह सकती हमारे जीवन के दरमियान तो आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते होती जाती है समझे न ऐसा होता है तो दोनों में से सम भाव होता समभाव से निकाल होता जाता है वैसा इतनी एक सरखी होती जाती है पटरी समझ में आया और आखिर पटरी कंप्लीट हो गई तो केवल ज्ञान एक दो अवतार में समझे ना तो यहाँ ये अपेक्षा से है समझिए आपका दूसरा चौथा सूत्र में से क्वेश्चन ऐसा आया कि नियम के बाद ही संयम आता है बोलो क्या नियम के बाद ही संयम आता है किंतु कौन सा नियम ऐसा पूछते हैं कौन सा नियम तो कहते हैं कि निराग्रह रूप से समझा गया हाँ निराग्रह रूप से समझा गया अर्थात पुष्पाबेन के जीवन में व्यवहार में जो कुछ बना रहता है उसमें नियम महीना क्या कि हम पुष्पाबेन की किसी भी क्रिया को मन का विचार हो अंतकरण हो और बाह्य के सभी के साथ रहते हो सभी कोई भी क्रिया हो बाह्य क्रिया और अंतर क्रिया समझ में आए वो सभी किसी क्रिया का हम करने वाला नहीं है वो तो हमने जो किया था उसमें से ये पुष्पाबेन जन्म पाई तो उसके अभिनय को खाली हो रहा है क्या मन से अंतरकरण से और बाहर से सभी जगह और लेकिन वो खाली रहा तो उसकी शक्ति तो होनी चाहिए न शुद्धात्मा की शक्ति अंदर हाजिरी है खाली और कुछ नहीं है लेकिन हम ये भाव मिश्रित द्रव्य से शक्ति ऐसी खींच मेरी आ गई तो शक्ति से अंदर भर गई पुद्गल में भर गई शक्ति वो शक्ति भरी हुई बैटरी का सेल होता है उसमें पावर भरा हुआ निकलता ही जाता है वैसे निकलने के लिए वो जन्म पाया आपने और सारा जीवन से वो शक्ति निकलती जाती है लेकिन वो शक्ति निकल की अपने अपने खुद से नहीं निकलती कोई तो ऐसी महाशक्ति होगी कि सबकी शक्तियों को निकाल के लिए वो सब उनसे उनसे हम हमारी शक्तियाँ खाली होती जाती है ऐसे होगी कि नहीं वो व्यवस्थित शक्ति तीसरी आज्ञा है व्यवस्थित शक्ति करता है उसका मतलब यही है कि जो हम व्यष्टि है क्या बताया व्यष्टि महीना व्यक्ति बहन ऐसा सभी लोग हम सभी सभी सारा विश्व हम्म, और सभी को चलाने वाली शक्ति एक मुख्य समझे जो एक मुख्य शक्ति है और कठपुतली का नाटक चल रहा है रामायण चल रही है सब कुछ लेकिन पर्दे पर्दा रखा गया है उसके पीछे चलाने वाला है वो सभी कठपुतलियों को नचाता है उधर से तो सभी के उसका जो रस्सियाँ लगी ऐसे उसको दूसरा कर्ज कराता है सबको आनंद भी आता है वो अलवर में खाली नहीं करते वो लोग नहीं रामायण अलवर में करते हैं हाँ, हाँ, हाँ। हमने सुना है कि एक महीने तक करते हैं एक महीना दशहरा के टाइम पे एक एक महीना चालू हो जाता है <laughs> उत्तर भारत में बहुत होती है ऐसी व्यवस्थित शक्ति से कटपुट लिख करके मेरा मन और वाचा और काया से हम ऐसे नचवाते जाते हैं और हम मानते हैं कि हे मैं हूँ नहीं अभी आज्ञा में आ गए व्यवस्थित शक्ति उसको नियम बोलते हैं क्या तो पुष्पाबेन नियम में आ गई तो आज्ञा के अनुसार समझे हम्म? नियम कैसे आई कि मैं व्यवहार दृष्टि से पुष्पाबेन हूँ दरअसल तो मैं शुद्धात्मा शुद्धात्मा दृष्टि से हूँ तो अभी ये पुष्पाबेन कैसे चलेगी तो को व्यवस्थित शक्ति के अनुसार वो चल जैसी चलाएगी वैसे विश्वास जिएगी जो पुष्पाबेन को होता है पसंद वाला नापसंदगी का कुछ भी हो वो व्यवस्थित शक्ति का चलाया हुआ है हम उसमें बढ़ेंगे नहीं अभी जो आगे बढ़ गए थे द्रव्य में उसमें भी यही हालत हुई है तो अभी तो हमें छुटकारा पाया है हुँ? हम्म? तो छुटकारा जीवन जीना है है ना फिर भी शरीर तो है जल तो है शरीर की लेकिन वो शरीर जैसा जीता है तो ये कैसी है लाइव जेल है ला, लाइव को क्या बोले हिंदी में जीवन जीवन जीती जीती जीती हुई जेल है वो मनुष्यों की जेल जीती हुई नहीं होती उसमें जीने वाले अंदर डब्बे में पूरे ऐसा पूरे पूरे जाते हैं हाँ, कैद हो जाते हैं ऐसे शरीर में हम शुद्धात्मा है हमें स्वाद आया है फिर भी इसमें है तो उसका सब निकाल करना है सब कि दुकान दुकान हो गई क्या हाँ तो उसमें ये नियम आया आज्ञा वही धर्म क्या बताया तो हमें पांच आज्ञा मिली महावीर भगवान के पांच महाव्रत है अब समझे ना और आज्ञा का पालन में जहाँ जहाँ हमेरी मेरी गलतियाँ हमें थोड़ी थोड़ी कैसे भी समझ में आवे दिखाती जाती है इसी तभी हम प्रतिक्रमण करते रहे तो उसमें पांच महाव्रत भी आ गए संसार में होते हुए भी और सभी अणुव्रत आ गए तो नियम में आ गए बोलते हैं समझे क्यों कि व्रत महीना सभानता से रहना क्या बताया मैं शुद्धात्मा हूँ तो शुद्धात्मा की स्वभाव से रहना वो क्योंकि हमने शुद्ध चित्त पाया है हाँ समझे ना तो व्रत शब्द उसके ऊपर से आया है हमेरी हाँ, वृत्ति शुद्ध वृत्ति हो गई लेकिन शुद्ध वृत्ति के स्वरूप से हम जी नहीं पाते हुँ? हमेरा जो व्यवहार में अशुद्धि है जिसके कारण शरीर का जन्म पाया फिर भी ये पंचम काल में हमें चतुर्थ ज्ञान का मायर भगवान के प्रत्यक्षता वाला ऐसा ज्ञान मिला क्यों क्या इससे ज्ञानी पुरुष मिले और उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुई हुँ? कृपा शब्द शरीर की क्रिया को नहीं लागू होता क्या बताया नहीं कृपा शब्द दिल में सम्यकता जितनी जितनी प्रस्थापित होती जाती है उससे उसका बाहर ऐसा होता ही है फ्लो हुँ? हम्म? और वो उसकी शुरुआत सभी धर्मों में विश्व में भारत में सभी जगह दया शब्द से होती है सभी को शांति चाहिए सभी को शांति चाहिए सभी इच्छा करते हैं कि हमें दूसरे लोग क्षमा करें हमारी क्या गलती नहीं है फिर भी ऐसा क्यों करते भाई क्षमा करो नहीं बोला नहीं जाता किसी को लेकिन मांगते हैं और सभी को ठीक ढंग से रहना है कोई पक्ष में नहीं पड़ना ऐसे सभी की भावना रहती है लेकिन रह नहीं पाते नहीं पाते तो दया से शुरू होती है और शुद्धात्मा पर पाए उसके पश्चात तो जितना जितनी सम्यकता हमारे व्यवहार में आती है वो सारा कृपा का सभी कृपा शब्द तो सभी को लागू होता है लेकिन दरअसल दया पूरे पूरी निकल के बाहर निकल जाती है तब कृपा चालू होती है नहीं तो कृपा नहीं हो सकती उसको बोलते हैं अनुभव ये आज्ञा के अनुसार हमारे शरीर के सारे व्यवहारों में जैसी व्यवहार की शुद्धि हमें अनुभव में स्वाद में आती जाती जाए शुद्धात्मा दृष्टि से वैसा वैसा अनुभव पद इकट्ठा आहिस्ते आहिस्ते होता है वो क्रम क्रम से होता है अंश अंश अंश करके और जमा होता है कभी ऐसी स्थल आती है कभी कभी तब वो स्थिर हो जाता है पीछे रहता ही है और व्यवहार तो साथ साथ में रहता ही है और व्यवहार रहता है इसलिए अनुभव एक गुणस्थान का समय की अवधि से चलता रहता है हमेशा कंटिन्यूस चलता है लेकिन गुणस्थान पूरा हो तो खंडित होता है पीछे चालू होता है बीच में वो खंड खंड का भंग भाग भी आ जाएगा बड़ा होगा तो आस्ते आस्ते छोटा होता जाएगा समझ में आता है कुछ बहुत गंभीर बात करते हैं आपको अनुभव के लिए हैं अपना इतना प्रश्न करती है तो समझ में आया मज़ा आती है हाँ मज़ा को आनंद बोलते हैं आनंद <laughs> आगे जावे तो तेईस में से उनतीसवा सूत्र है उससे लिया है आपने अब नियम तो समझ गई ना बिना नियम संयम नहीं होता जो व्यवहार से संयम ग्रहण करते हैं हम घर के व्यवहार से मुक्त होकर हम साधु धर्म साध्वी धर्म स्वीकार करते हैं वो व्यवहार से है लेकिन समय संयम दरअसल भगवान की भाषा में भगवान की भाषा में वो शुद्धात्मा के साथ वाला जो व्यवहार का जीवन वो तो घरेलू लोग को भी होता है इसलिए भगवान ने बताया घरेलू लोगों में अगर ये पंचम काल आने वाले पंचम काल में ये लोग ये भगवान की आज्ञा नहीं समझ पाएंगे वीर प्रभु की और संयम और व्यवहार दोनों चलता रहेगा इसीलिए वो संघ जो स्थापना की संयम धर्मियों से वो सारे संयम धर्मियों के लिए थी प्रमुखताए और गौणता वो सभी संसारियों के लिए थी घर वालों के लिए समझे तो ऐसा था तो तो चलता रहा क्यों कि व्यवहार कभी भी अटकता नहीं है क्या बताया हाँ हमें जन्म के पहले भी व्यवहार था और जन्म पाया वो व्यवहार ही है और आगे जन्म पाएंगे वो भी व्यवहार है लेकिन व्यवहार किसको बोलते हैं कि जो मुक्त हो गया उसको सही व्यवहार भगवान की बात में बोलते हैं अर्थात मैं पुष्पाबेन हूँ तो मुझे ये आज्ञा और स्वरूप ज्ञान मिला तो स्वरूप ज्ञान मिला उसके पश्चात पुष्पाबेन के ढंग से मुझे मेरा जीवन जाना है उसमें पांच आज्ञा में पुष्पाबेन को रखी गई समझे ना उसमें मुक्त जीवन चला जाता है पूरा तो वहाँ सही व्यवहार में आपकी प्रवेश हुई महावीर भगवान की भाषा में आपने संयम नहीं लिया घर व्यवहार सबको फिर भी और संयमधारी है संयमधारी ने लिया उन्हों तो बड़ा और भी लाभ मिलेगा तो जल्दी और दूसरे को काम में भी आएंगे बहुत लोगों को काम में आएंगे हुँ? हम्म? शरीर को हमें काम में नहीं लेना है शरीर को काम में आने देना है सभी के लिए हम संयम लिया है हमें मोक्ष मोक्ष के लिए आखिर हम मोक्ष हमें मोक्ष ही चाहिए बस फिर भी ये साधु का जीवन जाता है इस ढंग से व्यवहार के साथ जाता है आपका संयम व्यवहार हो गया और बाकी का वो घर वालों का व्यवहार हुआ व्यवहार तो एक ही है भगवान की भाषा का व्यवहार और उसी को वितराग भगवान की भाषा का वो वितराग वितराग अंश प्राप्त करने वाला पुरुषार्थ वाला व्यवहार बताया क्योंकि पुरुष पद प्राप्त हुआ शुद्धात्म पद समझे न तो नियम संयम समझ में आया वो पांच आज्ञा वही धर्म है वो संयम है पांच आज्ञा वही तप है वो संयम है पराक्रम है और मैं पुष्पा बहन ये पांच आज्ञा के अधीन जो मेरा जीवन जा रहा है अभी ये मेरी यही अधीनता है अधीनता में ना आधार कुछ आधार तो चाहिए ना हमें सीधा ज्ञान तो प्राप्त कर लिया वो जिन लोगों को व्यवहार में निकलते निकलते निकलते कहीं से आगे जाते हैं तब ज्ञान मिलता है तो अभी मिला ये शक्य शक्य नहीं है ये अपवाद ही होता है सब हुँ? और आज ये अपवाद मागे खुला हुआ अक्रम बोलते हैं तो अक्रम कोई नया कुछ ही नहीं लेकिन वो अपवाद मार्ग है खाली अपवाद से हुआ है क्यों कि एक काल में वीर शासन भी है और वीर शासन में हमें वीर प्रभु की आज्ञा हमें सही ढंग से समझ में आवे तो आज के पंचम काल के समय के अनुसार की पांच आज्ञा हमें मिली कि व्यवहार दृष्टि से हम नामधारी हैं निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है और व्यवहार दृष्टि से जो नामधारी है वो व्यवस्थित शक्ति से संचालित हैं और उनका मन व्यवस्थित शक्ति से प्रेरित होता है और मन से प्रेरित हमारी प्रकृति प्रेरित होती है तो प्रेरित करने वाले हम हैं ही नहीं प्रेरणा हमसे कुछ होती ही नहीं है वो वहाँ से शक्ति से आती है बिना शक्ति किसी भी क्रिया का संचार नहीं हो सकता वो तो सारा विश्व में सब जानते हैं शक्ति हुँ? हम्म? तो शक्ति वो मूल शुद्धात्मा की शक्ति है इसीलिए व्यवहार में आई समझे तो शुद्धात्मा प्रमुख है और शक्ति एक गौण है लेकिन वो असल शक्ति खुली हुए केवल ज्ञान केवल प्रकाश से वहाँ तक ये शक्ति में आज्ञा धर्म से जीवन जाना वही है मेरा निश्चय क्या बताया निश्चय पुष्पा बहन को कैसे भी परिस्थितियाँ आवे ऐसा लगे अरे क्या जीना खराब क्या करे कैसा जीवे ऐसा कैसा भी आवे उनको जो कुछ हो जाए लेकिन मेरा निश्चय नहीं छूटेगा तो हर दो डोलक होगा ऐसा होगा उलट पुलट हो जाएगा फिर भी हम वापस नहीं नहीं बोलना पुष्पा को आपको खुद को पुष्पा बहन को बोलना है पुष्पा बहन नहीं सुसीधी आ जा अग्नि में आ जा ऐसा अपने खुद बोलना है खुद डांटो दूसरों हमें डांटे उसकी जगह खुद डांटो अच्छा रहेगा हम्म, अच्छा रहेगा ऐसे हिसाब चाहिए ना हाँ लेकिन बच्चे लोग को तो स्कूल में मास्टर डांटने वाला ज़रूर लगते हैं हाँ ये पहले मीताबेन जैसे की लगती है आगे बैठिए ये बच्ची ये कौन है ना मतलब बड़ी है नहीं चेन्नई से अच्छा तेरे उसका मोहन मोहन भाई की बहन कभी कभी हो जाता है, हाँ? पुष्पा में आगे जावे हाँ तो एक पद पसी लीए हेलो बीजो આવી છે जिसको जो समझने की इच्छा हो आज्ञा धर्म में और किसी किसी ने स- कोई ने आज्ञा भी ज्ञान भी नहीं होगा आत्मज्ञान फिर भी हम जैन धर्म के अनुसार मेरा जीवन बिताते रहते हैं उनको भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं कोई भी सदा जी आप भी पूछ सकते हैं हुँ? तो ये कमला रानी बहन कौन है कमला बहन कमला रानी हाँ? हाँ, हाँ, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है वहीं आप बैठो बैठिए हाँ आइए ना नीचे बैठ पाते नहीं तो वहाँ ही खड़े रहिए नीचे हरकत नहीं ना बैठने में अच्छा तो आपका पीछे लेते हैं हाँ लेते हैं यहाँ ये दो तीन बाकी है ले लेंगे हाँ? हम्म। ले लिए नहीं भाई अच्छा ये ट्वेंटी नाइन वाला हो गया नहीं ट्वेंटी फोर बार नियम के बाद संयम आता है अच्छा उन ट्वेंटी नाइन का सूत्र क्या है निज निज शिष्य दृष्टि के वेदन के बिना निज शिष्य दृष्टि के वेदन बिना निज और शिष्य दृष्टि एक शब्द है शिष्य लाइन दृष्टि ऐसा निज निज शिष्य दृष्टि के वेदन के बिना सामने वाला निर्दोष देखाता ही नहीं निज महीना वो पुष्पा बहन अब कमला बहन जो हो हम नामधारी उसको निज वो हृदय में रखा है तो हम व्यवहार दृष्टि से आज्ञा धर्म में ऐसे आ गए हैं जो मानते थे कि वो व्यवहार वही निश्चय है और इसीलिए हम मानते थे कि जो मैं नाम है और नामधारी है वही मैं हूँ उससे तो हमने छुटकारा पाया मुक्ति पाई इसीलिए वो नाम वाला नामधारी मुक्त हुआ लेकिन मुक्त हिसाब से जी नहीं पाएगा इसमें आज ये आज्ञाधर्म दो दृष्टि सही नहीं रहती है किसके कारण तो के व्यवहार में हमें ये व्यवहार दृष्टि की नज़रिया में जितना गुरु भाव आ गया था मईपन आ गया था क्या निकलता हुआ मईपन कौन सा क्यों कि कोई सी भी मईपन होगा वो भरता हुआ होगा या निकलता हुआ वो बिना ममता वाला नहीं होगा मेरापन वाला नहीं होगा बिना समझे जितना मईपन है वो हमेशा मेरापन वाला साथ में ही होता है समझे लेकिन जो गलत मान्यता का भ्रांति का मईपन है वो ममता वाला होता है हुँ? हम्म? उसी को ही माया बोलते हैं ममता समझे ना वो नाम नाम की माया बोलते हैं ना तो पीछे मुक्ति होने के पश्चात फिर भी हमारी नज़रिया तो व्यवहार की चलती रहती है वो नज़रिया में वो आगे जो भरे था निश्चय मुँह व्यवहार में उससे वो नज़रिया काम कर रही है उसमें से हम जैसे जैसे वो व्यवहार दृष्टि के नज़रिया से ही समझते समझते जीते जाते जाए ऐसे ऐसे वो नज़रिए में से भार कमती होता जाएगा भार महीना गुरु भाव गुरु भाव उसको भार बोझा वाला बोलते हैं तो नज़रिया सही नहीं रह सकती हमारी तो कमती होता है इसीलिए लेकिन हमें उसका आधार लेना अच्छा रहेगा नामदारी को कि अभी आपका कमलाबेन और पुष्पाबेन नाम है ना आपके कोई बात नहीं छोड़ वांधो નથી અવાજ મોટો છે ને કમલાબેન और पुष्पाबेन आपको नाम को आपको बताते हैं पुष्पाबेन तो वो नज़रिया पुष्पाबेन की जो है उसमें शिष्य दृष्टि से उसे सारा वेदन अर्थात आपका पति देव से आपको ठपका मिले और आपको वेदन होने ही वाला है वेदना वेदना तो होगी अच्छा पर नहीं लगेगा उसमें वो सब वेदना होगी उसमें हमें यही वेदन होना है तभी ये उसका हमें केड़ो निशु कहिए के खेलो कल्टिव उसकी आदत पाड़नी है प्रैक्टिस करनी है उसकी कि भाई ये तो मेरे गुरुदेव से मुझे ठोकाया मुझे उसमें क्या बेना हो बुरा लगना है वो तो मेरे अच्छे हैं भले हैं ऐसी हमारी दृष्टि रखनी है शिष्य दृष्टि पतिदेव के साथ रहते रहते भी और बच्चे के साथ रहते तो भी छोटा बच्चा क्यों हो कैसा भी हो उसके साथ उनका व्यवहार आपको पसंद आए ना पसंद आए देखना नहीं है लेकिन आप उनके भी शिष्य हैं क्या एक जन्म पाया बच्चा है उनके भी शिष्य है और उससे सब बड़े गए छोटे हो गए सब कुछ हो गए सभी उनके हम शिष्य हैं सभी मेरे गुरु हैं समझे हम लगता है कि बिल्ली बीच में आती है तो हम अपशुकन मानते हैं तो उसको गुरु अगर के देखो तो आपको अपशुकन नहीं होगा समझ में आया किसी भी प्रकार का लेकिन ये भारत में जन्म जन्मांतर से जीते जीते जो आए हैं और कहीं कहीं ऐसी अंधश्रद्धा वाला जीवन हमारे अंदर जम गया है उसमें से निकलते निकलते हमारी दृष्टि में शिष्यवृत्ति आती है और जितनी शिष्यवृत्ति आती है इतनी वृत्ति से हमें हमारी भूल दिखाई पड़ेगी और भूल दिखाई पड़ेगी इतनी निर्दोषिता आएगी और हमेरी व्यवहार दृष्टि की पुष्पा बैंक की निर्दोषिता जितनी आई इतनी इतनी इतने अवसरों में और दूसरों में दोष नहीं दिखेगी दूसरा देश वाला व्यवहार होगा फिर भी उनको नहीं दिखाई पड़ेगा व्यवहार की दृष्टि तो दिखेगी वो खुद पर खुद नहीं देखेंगे मेरी समझ में आया बहुत गहरी बात बताते हैं आज्ञा धर्म की बहुत गहरी बात हम्म, जैसे महावीर भगवान रहते थे इस ढंग से बताते हैं हम जो दादा भगवान रहे और इतना बड़ा ज्ञान खुला हुआ इस ढंग से समझ में आया सबको हम्म? तो ऐसी बात है तो दादा भगवान ने खुद के लिए बताया कि हमने हमारी निर्दोष व्यवहार नज़रिया से सारा विश्व को निर्दोष देखा ऐसे दादा भगवान का विधान है यही विधान महावीर भगवान का हुँ? हम्म? लेकिन उनका केवल ज्ञान के पश्चात बाहर आया दक्षिणा के स्वरूप में जब वो तप तब काल में थे तब नहीं आया वो तो तब काल ही होता है तब काल तो उसमें मुंह बंद हो जाता है हुँ? हम्म? बस खुद को देखता ही रहते देखना ही रहता है और कुछ नहीं तो आग्नाय धर्म वो ऐसा ही है उसमें क्या दिक्कत है पुष्पाबेन बोलो ना घर में जीने के लिए आप बेंगलोर से है ना हाँ पदम सिंह जी तो पदम सिंह जी आपको हैरान करते हैं वो तो बहुत अच्छे है हाँ? समझ में आया कि नहीं તે બેંગ્લોરમાં બહુ પૂછતી હતી આપણે થોડા દિવસ હતા ને બે ત્રણ દિવસ તમે હતા નહીં કે દીપકભાઈ હતા કોઈ समझ में आया आपको हमारे आज्ञा धर्म से ऐसा होता जाता है जैसे असंभव से निपटारा होता जाता है और मैं किसी पुष्पावन की शरीर की व्यवहार की मैं करता मैं मैं मुझसे किया नहीं जाता वो व्यवस्थित शक्ति करवाने वाली है उससे होता है हा? तो मैं शुद्धात्मा ठीक ढंग से रहता है और पुष्पावन की व्यवहार दृष्टि भी ठीक ढंग से इतनी तो रहती है आहिस्ते आहिस्ते होता जाता है हुँ? और खुद के दोष दिखाई गए पड़ेंगे नहीं तो तो हमें से अनादि से वो आदत तो हो गई है ना उससे बा, बाहरी दोष दिखेंगे खुद का तो बिल्कुल ठीक रखेंगे हुँ? हम्म? पीछे आगे तैतीसवा सूत्र में से पूछा है भाव भाव का मतलब है असर में असर रूप में अस्तित्व ऐसा कुछ हो सूत्र है वो तो समझना है ओ ખરી विचार કરીને લાए पदम जी बहुत मैंने पढ़ के बहुत सोचा लगता है उत्तम जी अच्छे सोच वाले हैं भाव का मतलब है वह समझने योग्य है सही में ना हाँ? भाव का मतलब है असर में असर रूप में अस्तित्व उसको ही द्रव्यकर्म बोलते हैं क्या बताया उसी को ही द्रव्य कर्म बोलते हैं द्रव्यकर्म असर वाला है क्या बताया और उसमें हमें असर लग जाती है <laughs> वो असर हमें लगती है हाँ। हम तो असंग है हमें क्यों लगे वो असर फिर भी जितना हिसाब है वो तो लगेगी किसी को नहीं महावीर भगवान को ही नहीं छोड़ा इसीलिए साढ़ा बारह वर्ष तब कल्याणक हुआ तो हमेरा सारा जीवन तब कल्याणक वाला है लेकिन घर घर गर, में घरेलू जीवन जीते जीते पदम जी कहाँ गए सब पक्का है आप पक्का है पक्का है दिनेश वगैरह कहा दिनेश और आपका हाँ राकेश राकेश सभी भाई बैठे अरे ताराचंद ठीक है कि नहीं बहन आया कि नहीं गुरुजी गुरु आपके गुरुजी वो बोलते हैं आप तो मेरे गुरुजी है बोलते <laughs> वो समझे जा हाँ? अच्छा अच्छा है भाव का मतलब है असर में असर रूप में अस्तित्व हमेरा अस्तित्व शुद्धात्मा का हो गया और पुष्पा का अस्तित्व था और वही मेरा अस्तित्व मानते थे वो निकल गई गलत मान्यता तो सही हम बैठ गए अपना स्वरूप में समझ में आ गया सही ढंग से समझे तो अभी खाली असर वगैरह पुष्पा बनकर रहा तो आगे मैं ही पुष्पा बहन हूँ वो असर में खुद असर रूप से जीते थे हम अभी समझ में आया वो उसका अस्तित्व बोलते हैं इसलिए विनाशी अस्तित्व उसको बोलते हैं क्या हम शुद्धात्मा पद प्राप्त कर लिया उसके पश्चात हम अविनाशी स्वरूप में आ गए लेकिन विनाशी जीवन के साथ समझ में आया आगे आखिर का है 125वां दादाजी हर व्यवहार में किस प्रकार रहे कि जिससे विनाशी स्वभाव से हम निकलते चले और उसके विरोधी स्वभाव वाला कुछ अनुभव करें जो टिकाऊ है जैसा निश्चय शुद्धात्मा तो व्यवहार में इस ढंग से पुष्पा जी को रहना है कि पदम जी जो है वो पदम जी पदम जी नहीं है मैं हूँ अंदर से शुद्धात्मा की दृष्टि से समझ से समझ से समझे वो शरीर शरीर का व्यवहार तो शरीर का ही अलग होता है सभी का अलग होता है लेकिन हमेरी शुद्धात्मा की नज़रिया में दृष्टि में दिव्य चक्षु से हमें बाहर किसी को कोई भेद स्वरूप से नहीं दिखाई दे और हमेरा ही अस्तित्व के कारण वो बाहर है ऐसा मेरी समझ में आता जाए आहिस्ता आहिस्ते आएगा बच्चों में भी ऐसा आना पड़ेगा हाँ तो ही बच्चों के साथ सही व्यवहार होगा मज़ा आएगी मज़ा आएगी समझे कि नहीं सिंह समझ गई ना हाँ वो तो आसान है उसमें क्या तक दिक्कत है हाँ दिक्कत बोले तो दिक्कत हो जाएगी नहीं आसान है नहीं निश्चय से मजबूत होना जय सच्चिदानंद ये आपका हो गया अरे पद हम पद ले हिंदी का पावन पथ पर परिवार कर कर जरूर जरूर करें तो ये एक पत, एक ले लिए हम हम्म? एक कम कमला रानी जी बैठिए बैठिए हाँ? कमला महारानी जी क्यों नहीं लिखा आपका घर की तो महारानी है ने कहाँ से अलवर अलवर अलवर वाली है अच्छा हम्म। जय दादाजी दादाजी मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न है कि मुझे मेरे पूर्वजनों ने एक कार्य सौंपा है मुझे मेरे पूर्वजनों ने एक कार्य सौंपा है और वो अपनी संपत्ति डेवलप डेवलप को तो ये प्रश्न व्यवहार का है ना आपका व्यवहार का है ना कि ज्ञान का है अच्छा सर लेकिन यदि मैं उसके उनको कार्य तो पूरा व्यवहार ज्ञान तो है लेकिन व्यवहार के साथ वाला है ना तो रूम में आना मैं समझा देता तो। हूँ रूम में आना हम्म? कुछ मुझे सही ढंग से समझना पड़ेगा आपसे हाँ ऐसे ही रखो और आप आने जा दो पाछू थोड़ा समय आ जाना मैं अभी शाम को चला जाऊंगा शाम को एक घंटे के लिए आ जाऊंगा कौन सा समय है शाम का नहीं ऐसा नहीं है अपना रेगुलर टाइम क्या है ऐसे पाँच से छः बजे का आपका रख तो बस पाँच के छः हम आ जाएंगे और उसके पहले रूम में आ जाना भोजन करके प्रसाद सब हो गए हो जावे तब ढाई बजे तीन बजे तीन बजे आना हाँ तो अभी तो इस सब आपके जो आमंत्रण जिस जिनका है वो सभी को सभी विधि का भी करना है केवल भाई आएंगे कल भाई आ जाएंगे तो अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा तो अच्छा ठीक है ठीक है हाँ? ये किसका आया पीछे से दादाजी ऐसा उल्टा है उनका हम्म। यहाँ से पढ़ना और पीछे जाना ओम भ्रीम दादा भगवान सर्व सर्वज्ञ शरणम अच्छा में बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा दादाजी आप सब कुछ करने में समर्थ है मैं बार बार आपसे शांति मांगता हूँ और शांति भीतर शक्ति मांगता शक्ति मांगता हूँ शक्ति भी तत्क्षण भी मिल जाती मिले जाती है लेकिन दादाजी आपके प्राप्त शक्ति द्वारा देर टिकती नहीं मुझे मिल जाती है उसका स्वाद आता है टिकती नहीं कृपा करके आप ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करने के हाँ? दोबारा शक्ति मिलने के दादा वापस जावे नहीं ऐसी ठीक है तो ये महेश अलवर अलवर वाले कौन है आप हैं ना एक काम करें चौबीस तारीख को ज्ञान विधि रखी थी उसकी जगह पच्चीस तारीख को हमें व्यवहार के कोई कारण कनु ये दादाजी के व्यवहार के कारण पच्चीस तारीख को रखा गया है हम्म? पच्चीस को हम आ जाएंगे पच्चीस छवि है सत्यावी तक तो कीर्तन भक्ति है हुँ? तो तीन दिन सब तो हमने बात कर दी है और जिनकी टिकट हो गई हो बाहर जाने की पच्चीस की वो चेंज करवा लेंगे रविवार की करवा लो मोक्ष मोक्ष पर मोक्ष जाना है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं वो पैसा लेंगे और कुछ लेंगे किसकी कोई बात नहीं फिर भी बोलते हैं हाँ आ जाओ तभी समझाएंगे फिर से पच्चीस तारीख को कारण मेरा जीवन थोड़ा शेष बचा है आप क्यों मानते हैं शेष बचा है अभी तो मुझे बहुत दिखाई देता है बहुत लंबा जीवन है आपका हाँ पल में किसी के सबका काम आपके हिसाब से होने वाला है बिना किए कुछ समझे ना ऐसे ही हाँ जाओ हाँ जी पची शनिचर शनिचर दोपहर तक नाटा परिवार की तरफ से शिविर है दोपहर तक वेरी गुड सनीचर तीन बजे से कीर्तन भक्ति बरोबर बरोबर तो जोधपुर के महावीर जी मधु जी के परिवार की तरफ से कीर्तन महावीर जी मधु जी आए हाँ, आप क्या नाम आपका शुभ नाम ये महावीर जी और मधु जी मधु जी मधु जी ये आ गए ठीक है बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा कीर्तन भक्ति अरे वाह समझ गया सब मैं देखा और अभी शनिचर तक नाटा बरोबर समझ गया समझ गया तो पूरा पच्चीसवा दिन है दोपहर को ज्ञान ज्ञान विधि होती है सुबह का तो सत्संग है ही और दोपहर को ज्ञान निधि होगी वहाँ ज्ञान कुंज में अच्छा और इस सबको बैठनी चाहे तो क्या करें है? सब सब आ जाएंगे हाँ अच्छा ठीक है तो हाँ बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा दादाजी केवल ये भाई स्वागत के लिए आप हाँ, जरूर जरूर आइए पधारिए पधारिए उनके अलावा कोई पुलिस मसला ताकि सभी को लाभ मिले हम्म। इसके बाद हमारा कार्यक्रम खत्म होता है साढ़े तीन बजे हमारा उम्र के हिसाब से ग्रुप वाइज